तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते मगर चंद नामों की जो अपने पास से रख लिए हैं खुद तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अल्लाह ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई हुक्म का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के लिए है उसी ने हुक्म फरमाया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो यही सीधा दीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते